Lesson 1 Essential Expressions. पाठ एक आवश्यक अनुसरण Vocabulary Builder 1. नमस्ते Hello. नमस्ते नमस्ते नमस्कार Goodbye. नमस्कार नमस्कार धन्यवाद थैंक यू धन्यवाद धन्यवाद कोई बात नहीं you're welcome it's all right कोई बात नहीं कोई बात नहीं अच्छा ओके All right. अच्छा अच्छा अच्छा गुड अच्छा अच्छा जी Sir. Ma'am. Affirmative. जी जी माफ कीजिए Excuse me. Sorry. माफ कीजिए माफ कीजिए ठीक Fine. Well. ठीक ठीक स्वागत है Welcome. स्वागत है स्वागत है हाँ Yes. हाँ हाँ नहीं No. नहीं नहीं फिर मिलेंगे सी यू लेटर फिर मिलेंगे फिर मिलेंगे आप कैसे हैं हाउ आर यू जनरल आप कैसे हैं आप कैसे हैं आप कैसी हैं how are you when asking a woman आप कैसी हैं आप कैसी हैं मैं ठीक हूं आई एम फाइन मैं ठीक हूं मैं ठीक हूं